Osho, Sach such, So such, question and answer talks given at Osho Commune International, Pune, India, discourse number 5. प्रश्न भगवान प्रेम क्या है और क्या प्रेम कभी नष्ट भी हो सकता है या नहीं राम किशोर प्रेम एक इंद्रधनुष है उसमें सभी रंग हैं निम्नतम से लेकर श्रेष्ठतम तक काम से लेकर राम तक प्रेम कोई एक आयामी घटना नहीं है बहुआयामी है मूलतः तीन आयाम समझ लेने जरूरी है पहला आयाम तो शरीर का है शरीर का प्रेम नाम मात्र को प्रेम है प्रेम की भ्रांति ज्यादा प्रेम का अस्तित्व कम एक प्रतिशत प्रेम निन्यानबे प्रतिशत रसायन शास्त्र एक प्रतिशत तुम निन्यानबे प्रतिशत अचेतन प्रकृति उसी तल पर पशु जीते हैं उसी तल पर अधिकतम मनुष्य भी जीते हैं और जिन्होंने प्रेम का पहला तल ही जाना वे स्वभावतः प्रेम के दुश्मन हो जाएंगे उस तरह के दुश्मनों ने ही धर्म को विकृत किया है प्रेम की ऊंचाइयां जानी नहीं प्रेम की क्षुद्रताओं को ही जाना और तब प्रेम के विपरीत हो गए और तब प्रेम से दुश्मनी कर ली और तब प्रेम की तरफ पीठ करके भाग चले धर्म के नाम पर इतना पलायनवाद घटा है धर्म के नाम पर जीवन का विरोध जीवन की निंदा जीवन का तिरस्कार ऐसा घनीभूत मनुष्य के मन पर छा गया है कि लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं क्या सोचते हैं इस संबंध में कोई संगति भी नहीं रह गई कल ही मुझे एक पत्र मिला एक सन्यासी ने पुराने ढंग के पुराने ढर्रे के सन्यासी ने लिखा है कि काम तो पवित्र है उसको खिलवाड़ की तरह लेना ठीक नहीं और उसी पत्र के अंत में लिखा है कि काम तो घृणित है पाप है एक ही आदमी एक ही पत्र में पहले हिस्से में लिखता है काम पवित्र है और दूसरे हिस्से में लिखता है कि काम पाप है इस आदमी को पता भी नहीं ये क्या कह रहा है अगर काम पवित्र है तो पाप कैसे हो जाएगा और काम अगर पाप है तो फिर पवित्र कैसे हो जाएगा मगर ऐसी ही दुविधाओं से मनुष्य का मन भर गया है और कारण यह है कि मनुष्य को पूरा प्रेम जीने का अवसर नहीं मिला तो जो अवरुद्ध प्रेम की ऊर्जा रह गई है उसके भीतर वह सड़ती है ऊर्जा का नियम है या तो अभिव्यक्त करो या सड़ेगी नदी बहे तो ठीक रुक जाए तो गंदगी पैदा होगी बहाव उसे स्वच्छ रखता है प्रवाह उसे निर्मल रखता है रुकी की गंदी तलैया बनी जिन्होंने प्रेम को शरीर के तल पर ही जाना पशु के तल पर जाना उन्होंने प्रेम में छिपी ईर्षा देखी जलन देखी वह मनस देखा घृणा देखी कलह देखी उन्होंने प्रेम के नाम पर चल रहा स्त्री पुरुषों का शोषण देखा स्वभाव था घबरा गए घबराहट में भाग खड़े हुए यूं भाग के भी कुछ पाया नहीं जा सकता भाग के कभी कुछ नहीं पाया जा सकता युद्ध के मैदान से भागे गए लोगों को तो हम कहते हैं भीरू कायर भगोड़े और जीवन के मैदान से भाग गए लोगों को हम कहते हैं साधु संत महात्मा ये जीवन का युद्ध असली युद्ध है बाकी युद्ध तो सब कुछ भी नहीं जीवन के युद्ध में ही निर्णय होना है कि कौन विजेता है इससे जो भागा वो परमात्मा से चूका है जिसने जीवन के प्रति पीठ कर दी जो जीवन से विमुख हो गया वो याद रखे कि परमात्मा से कभी सन्मुख न हो सकेगा लेकिन उसके विमुख हो जाने का कारण क्या था कारण यही था कि हमने प्रेम को शरीर के तल पर ही ठहरा दिया है एक फायदा है प्रेम को शरीर के तल पर ठहरा देने में वह फायदा यह है कि प्रेम में थोड़ा स्थायित्व आ जाता है शरीर मन से ज्यादा थिर है बदलता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदलता है वैज्ञानिक कहते हैं सात वर्ष लगते तब कहीं शरीर बदल पाता है सत्तर साल आदमी जिएगा तो दस बार शरीर बदल जाता है मगर आहिस्ता आहिस्ता और इतना छोटा सा हिस्सा रोज बदलता है कि अधिकांश हिस्सा तो पुराना रहता है इसलिए पुराने की प्रती बनी रहती इसीलिए विवाह ईजाद किया गया कि प्रेम मन के तल तक न पहुंच पाए शरीर के तल पर ही रह जाए शरीर के तल पर रह जाने में एक तरह का स्थायित्व है इसलिए विवाह में हम फिक्र करते हैं और सब बातों की सिर्फ प्रेम की नहीं ज्योतिषी से पूछते हैं जन्म कुंडलियां में मिलाते हैं हस्त रेखाओं की जांच करते हैं वर के माता पिता परिजन वृद्धजन वधु के माता पिता परिजन वृद्धजन सब तरह का गणित बिठाते हैं हिसाब लगाते सब खाता बही जमाते धन कितना है पद कैसा है प्रतिष्ठा कैसी है कुल कैसा है भविष्य क्या है एक बात भर बात कर दी जाती न तो पूछते हैं जिसका विवाह हो रहा है उससे न पूछते हैं उससे जिसके साथ विवाह हो रहा है उन दोनों को बात कर देते हैं वो बात गौण है वो व्यर्थ है उसे बीच में लाना उचित नहीं उसे बीच में लाने में खतरा है क्योंकि मन बहुत जल्दी रूपांतरित होता है क्षण क्षण में बदलता है तो शरीर पर हमने प्रेम को ठहरा दिया उसका नाम हमने विवाह रख दिया है और विवाह को हम पवित्र कहते हैं विवाह अपवित्र है इसी कारण अपवित्र है कि वो शरीर पर ही रुका हुआ है गंदा है और विवाह की सड़ांत फिर लोगों को भगोड़ा बनाती ये जो लोग घर द्वार छोड़कर भाग गए हैं इन्हें कोई संसार से विरक्ति नहीं हो गई संसार को तो जाना कहां पहचाना कहां वृक्षों से विरक्ति हो गई है कि फूलों से कि पहाड़ों से कि नदियों से कि चांतारों से विरक्ति हो गई है विवाह नाम की संस्था से उसकी सड़ान से परेशान हो गए भाग खड़े हुए और यही भगोड़े महात्मा बन गए हैं साधु बन गए हैं फिर ये भगोड़े दूसरों को भगोड़ापन सिखा रहे हैं और बड़ा मजा है कि यही साधु महात्मा विवाह को पवित्र कहते यही साधु महात्मा विवाह के लिए आशीर्वाद देने आ जाते खूब साजिश है लोगों को विवाह में बांधो फिर वो परेशान हो पीड़ित हो दुखी हो तो फिर उनको मार्ग बताओ संसार त्याग का ये एक ही सिक्के के दो पहलू ये तुम्हारा पुराना विवाह और ये तुम्हारा पुराना सन्यास एक ही रोग के दो अंग और इसलिए साधु महात्मा नहीं चाहेंगे कि विवाह दुनिया से विदा हो जाए क्योंकि विवाह जिस दिन विदा होगा उसी दिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी भी विदा हो जाएंगे क्योंकि इनको फिर संसार से विरक्त करने वाली चीज कौन सी बचेगी संसार से इन्हें कौन घबरा देता है यह तुम देखो पुरुष भागे स्त्री नहीं भागी उसका कारण स्त्री की क्षमता है और सहनशीलता पुरुष से बहुत ज्यादा है और कोई कारण नहीं मुझसे लोग पूछते हैं कि क्यों स्त्रियां बुद्ध नहीं हुई महावीर नहीं हुई कृष्ण नहीं हुई राम नहीं हुई उनकी सहनशीलता पुरुष से ज्यादा है ये गौरव की बात है इसमें कुछ अगौरव नहीं है उनमें एक धैर्य है अपार धैर्य है जो पुरुषों में नहीं है वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत थे स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं पुरुषों की बजाय पुरुष दुगने बीमार होते हैं स्त्रियों की बजाय स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुषों की बजाय पुरुष दो गुने पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय स्त्रियां कम आत्मघात करती हैं पुरुष ज्यादा आत्मघात करते हैं दो गुने ये दो गुने का अनुपात हर दिशा में लागू है स्त्री में एक तरह की समतुलता है एक तरह का धैर्य है एक तरह का प्रसाद है जरूरी था क्योंकि उसे नौ महीने बच्चे को पेट में रखना है कौन पुरुष नौ महीने बच्चे को पेट में रखने को राजी होगा फिर नौ महीने पर ही बात खत्म नहीं होती फिर बच्चे को बड़ा करना है रात में दस पंद्रह बार जगाएगा तो भी मां जगाती फिर सो जाती पुरुष को दस पंद्रह बार जगाओ संसार से विरक्ति हो जाएगी पुरुष को नौ महीने गर्भ रखने दो पेट में कि फिर तत्क्षण बाघ खड़ा होगा ये कष्ट पुरुष न सह सकेगा स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती पांच साल ज्यादा दस बारह पंद्रह बच्चों को जन्म देने के बाद बड़ा करने के बाद भी पांच साल ज्यादा जीती घर का सारा उपद्रव झेलने के बाद घर ग्रस्ती की सारी झंझटें झेलने के बाद फिर भी पांच साल ज्यादा जीती पुरुषों से ज्यादा देर में वृद्ध होती ज्यादा समय तक युवा रहती ज्यादा समय तक सुंदर रहती सारी असुविधाओं के बीच में कारण है प्रकृति ने उन्हें सहने की क्षमता दी है और इसलिए स्त्रियां भागी नहीं जिंदगी से विमुख ना हुई स्वभावता है स्त्रियों में उस तरह के महात्मा और साधु पैदा ना हो सके जिस तरह के पुरुषों में हुए लेकिन मैं इसे गौरव की बात मानता हूं अगौरव की नहीं ये पुरुषों के संबंध में अगौरव है कि इनमें भगोड़े ज्यादा पैदा हुए और ये पुरुष ये महात्मा ये साधु संत इनके वक्तव्य देखो क्या है इनके सारे वक्तव्य स्त्री विरोधी हैं शास्त्रों में सिवाय स्त्री के निंदा के और कुछ भी नहीं तो उससे एक बात तो जाहिर होती है कि ये सारे लोग स्त्री से पीड़ित रहे स्त्री से घबराए रहे ये स्त्री को ही छोड़ के भागे हैं इतना तय है शंकराचार्य का यह वचन है तत्व किमेकम शिवम अद्वितीय किमुत्तम सच्चरित्रम यदस्ति त्याज्यम सुखम किम में सम्यक देयम परम किम त्वभयम सदैव एक तत्व क्या है अद्वितीय शिव तत्व सबसे उत्तम क्या है सच्चरित्र कौन सुख छोड़ना चाहिए सब प्रकार से स्त्री सुख ही परमदान क्या है सर्वदा अभय ही शंकराचार्य कहते हैं कौन सुख छोड़ना चाहिए त्याजम सुखम किम स्त्री सब प्रकार से स्त्री का सुख ही जैसे सारा सुख शंकराचार्य के मन में स्त्री का सुख ही होकर रह गया है और स्त्री में क्या सुख है यह भी तो पूछो यह वचन विचारणी है एक तरफ यही महात्मा गण कहते हैं कि स्त्री में क्या रखा है हड्डी मांस मज्जा लहू मवाद जैसे इनमें सोना चांदी भरा हो हीरे जवारात भरे और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कौन सुख छोड़ना चाहिए इनको सुख भी कहां दिखाई पड़ रहा है वहीं हड्डी मांस मज्जा रक्त मवाद वहीं सुख भी दिखाई पड़ रहा है सब प्रकार से स्त्री का सुख ही मन कहां अटका है इस सूत्र में जाहिर है और ये सूत्र अकेला नहीं तुम्हारे शास्त्र इसी तरह के सूत्रों से भरे ये जिन लोगों ने भी लिखे होंगे ये स्त्री को भाग के लिखे गए सूत्र स्त्री को जानकर नहीं पहचान कर नहीं स्त्रियों को इतनी गालियां दी हैं ये गालियां इस बात का सबूत है कि अभी भी कांटा चुभता है अभी भी मन मुक्त नहीं हुआ है कहीं अटका हुआ है अभी भी सुख स्त्री में ही दिखाई पड़ता है तो पहले तल का प्रेम तो शरीर का है वह पाश्विक है जो उस पर ही रुकेगा उसे आज नहीं कल इन भगोड़े साधु सन्यासियों से राजी होना पड़ेगा दूसरा तल मन का है थोड़े से लोग मन के तल पर प्रवेश करते मन के तल पर खतरा है मन क्षण भंगुर है अभी प्रेम अभी सब फूल खिले और अभी पखरियां झड़ गई अभी सुबह और अभी सांझ हो गई मन का कोई भरोसा नहीं मन यू है जैसे पानी पे कोई लकीरें खींचे लेकिन मन का प्रेम शरीर के प्रेम से ज्यादा ऊंचाई का है वही फर्क है जो गुलाब के फूल में और उसके ही पास पड़ी हुई चट्टान में चट्टान सुबह भी वही है सांझ भी वही है कल भी वही होगी गुलाब का फूल सुबह खिला था दिन हवाओं में नाचा सूरज से थोड़ी गुफ्तगु की किरणों में थोड़ा गीत गाया गुनगुनाया और सांझ पखरियां गिर गईं और सांझ फूल विदा हो गया माना कि पत्थर जो गुलाब की झाड़ी के नीचे ही पड़ा है ज्यादा थिर ज्यादा स्थायी है लेकिन क्या इससे तुम पत्थर होना चाहोगे या गुलाब के फूल होना चाहोगे भारतीय मन में यह भाव स्थायित्व का बहुत गहरा बैठा हुआ है चीजें थिर होनी चाहिए जितनी थिर हो उतनी अच्छी फिर चाहे थिर होने में जड़ ही क्यों ना हो जाए इसलिए भारतीय मन बहुत निंदा करता है उन देशों की जहां विवाह के ऊपर प्रेम छा गया है क्योंकि जहां प्रेम मन का होगा वहां तलाक भी होंगे वहां कुछ भरोसा नहीं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर के तल से मन का प्रेम ज्यादा ऊंचाई का प्रेम उसमें कुछ फूलों की गंध है शरीर के तल पर सपाट है मामला जैसे कोलतार की सीधी सपाट सड़क न कोई मोड़ आते न कोई ऊंचाइयां आती न कोई नीचाइयां आती ज्यादा व्यवहारिक स्थूल भी लेकिन मन का प्रेम यू है जैसे पहाड़ों के शिखर जैसे गौरी शंकर की ऊंचाइयां लेकिन जहां गौरी शंकर की ऊंचाइयां होंगी वहीं पास में गहरी खाइया भी होंगी बिना खाइयों की ऊंचाइयां नहीं हो सकती और बिना ऊंचाइयों के खाइया नहीं हो सकती तो जो लोग मन के प्रेम के तल पर उठेंगे उनको स्थायित्व का मोह छोड़ना पड़ेगा तो उनके जीवन में प्रेम के गहरे अनुभव भी होंगे प्रेम के शिखर भी उठेंगे और उन्हें प्रेम का विषाद भी झेलना पड़ेगा विवाह में न प्रेम का कोई गहरा अनुभव है न कोई विषाद है एक काम चलाऊ दुनिया है एक दुकानदारी है विवाह में और वैश्या में मैं कुछ भेद नहीं करता हूं वैश्या यू समझो कि जैसे कुछ देर के लिए किया गया विवाह है जैसे टैक्सी में सवार हुए और विवाह यूं है जैसे अपने घर में ही कार रखी प्राइवेट नंबर्स और टैक्सी का नंबर मगर दोनों ही पैसे की बात है दोनों में कुछ बुनियादी भेद नहीं इसलिए जिन देशों में विवाह की प्रथा है उन देशों में वैश्या की प्रथा भी रहेगी अब ये हमारा देश है जो सदियों से विवाह में जी रहा है और साथ ही वैश्याएं पल रही और धर्म के नाम पर भी पल रही भारत के मंदिरों में देवदासियां होती रही अब भी हैं देवदासियों का नाम ही देवदासी है वैश्याओं के लिए अच्छा दिया नाम हम नाम देने में कुशल हम सुंदर शब्दों की आड़ में भद्दी असलियतियों को छिपाने में बड़े कारीगर देवदासियां मंदिर में रही वैश्याएं थी ये मंदिर के पुजारियों के काम आती और मंदिर में जो ग्राहक पूजा करने आते उनके काम आती न मालूम सदियों तक भारत के अनेक हिस्सों में ये प्रथा थी कि जब पहले दिन विवाह करके कोई युवक घर लौटे तो उसकी पत्नी पहली रात सुहाग रात मंदिर के देवता के साथ बिताए देवता बेचारे क्या करेंगे वो पत्थर के देवता है देवता के नाम पर मंदिर का पुजारी उसे भोगेगा वो तो बेचारा एजेंट है वो तो मंदिर के देवता का उपकरण मात्र है निमित्त मात्र है उसके माध्यम से देवता ही भोगते हैं क्या जालसाजियां क्या बेईमानियां और कितने अच्छे अच्छे नामों की आड़ मंदिर देवदासी पुजारी देवता और खेल सब चल रहा है वही क्षुद्रता का जिन देशों में प्रेम ने विवाह का स्थान ले लिया वहां तलाक अनिवार्य हो गया और जैसे जैसे प्रेम और तलाक गहन होते जाएंगे वैसे वैसे वैश्या विदा हो जाएगी वैश्या विवाह का अंग है अनुसंग है वैश्या का अर्थ ये अपनी पत्नी से छुटकारे का तो कोई उपाय नहीं अपने पति से तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं जब कोई उपाय नहीं है तो फिर पीछे का कोई दरवाजा खोजो तो पुरुषों ने अपने लिए दरवाजा खोज लिया था वैश्या खड़ी कर ली और स्त्रियों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता उनको तो सब तरफ से कारागृह में डाल दिया है लेकिन जिन देशों में स्त्रियां मुक्त होने लगी जैसे अमेरिका में इंग्लैंड में वहां जान के तुम्हें तो हैरानी होगी वहां पुरुष वैश्याएं भी उपलब्ध हो गई जैसे स्त्रियां वैश्याएं होती हैं वैसे पुरुष वैश्या कहना चाहिए वैश्य वैश्य भी उपलब्ध हैं जैसे वैश्याएं उपलब्ध हैं क्योंकि स्त्री भी वही मांग करती है जो पुरुष करता समान अधिकार तो स्वभावता उसका यही परिणाम होगा प्रेम बढ़ेगा तो विषाद भी बढ़ेगा लेकिन भारतीय साधु संत पश्चिम में बढ़ते हुए प्रेम और तलाक की खूब निंदा करते हैं कि देखो प्रेम का क्या परिणाम हो रहा है इससे तो हमारे ऋषि मुनि जो विवाह की व्यवस्था देगा वही अच्छी थी अच्छी थी इस अर्थों में कि स्थायी थी अच्छी थी इस अर्थों में कि व्यवसायिक थी सपाट थी खतरे नहीं थे सुरक्षित थी लेकिन जीवन जितना सुरक्षित हो जाता उतना ही मुर्दा हो जाता तुम पूछते हो राम किशोर कि प्रेम क्या है तो एक तो प्रेम है शरीर के तल का जो कि पाश्विक है पशुओं जैसा है और विवाह के नाम पर जो चल रहा है वह वही प्रेम है और दूसरा प्रेम है मन का जो ज्यादा काव्यात्मक है ज्यादा मानवीय है लेकिन फिर तुम दूसरी बात भी पूछते हो कि क्या कभी प्रेम नष्ट भी होता है या नहीं शरीर के तल पर जो प्रेम है उसमें तो नष्ट होने का कोई सवाल उठता नहीं वहां प्रेम ही नहीं तो नष्ट क्या खाक होगा पहले फूल तो खिलने चाहिए तब तो मुरझाएंगे कागज के फूल होंगे तो मुरझाएंगे क्यों और प्लास्टिक के फूल हुए तब तो मुरझाने का कोई सवाल ही नहीं उठता विवाह प्लास्टिक का प्रेम है प्लास्टिक का फूल है रोज धोलो नया ताजा धूल झाड़ दो फिर नया फिर ताजा वही रंग वही ढंग हालांकि गंध नहीं होती खिलता नहीं और सिर्फ आदमियों को धोखा दे सकता है किसी मधुमक्खी को धोखा ना दे सकेगा कोई तितली धोखा ना खाएगी आदमी भर मूल है कि धोखा खा सकता है दूसरा प्रेम तो क्षण भंगुर होगा मगर उसकी क्षण भंगुरता भी पहले प्रेम की स्थायित्ता से ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि उस क्षण भंगुरता से तुम्हें स्वाद मिलेगा तीसरे प्रेम का जो कि वस्तुतः समग्र प्रेम उसको मैं कहता आत्मा का प्रेम जो दूसरे तक नहीं पहुंचा है तीसरे पर नहीं पहुंचेगा दूसरा सोपान पार करना जरूरी है जो पहले पे ही अटका रह गया उसका धर्म भगोड़पन होगा पलायनवाद होगा और जो दूसरे से गुजर गया उसके जीवन में प्रेम की क्षणभंगरता को देखकर प्रेम के विषाद को देखकर और प्रेम का आनंद भी जानकर पहले ने तो आनंद जाना ही नहीं सिर्फ विषाद जाना सपाट थोथापन जाना तो भाग खड़ा हुआ दूसरे ने दोनों जाने क्योंकि दूसरा मध्य में है शरीर और आत्मा के ठीक मध्य में दूसरे ने दोनों जाने विषाद भी जाना और आनंद भी जाना विषाद के कारण वो दूसरे से मुक्त होना चाहेगा और आनंद के कारण दूसरे में जो छिपा हुआ राज है उसको और ऊंचाई तक ले जाना चाहेगा इसलिए उसके जीवन में खोज शुरू होगी कि क्या कोई आत्मिक प्रेम भी हो सकता है और वही खोज धार्मिक खोज वही प्रेम प्रार्थना बन जाता है वही प्रेम परमात्मा की तलाश है क्योंकि वह प्रेम फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच नहीं होता वह प्रेम तो फिर व्यक्ति और अव्यक्ति के बीच होता है वह प्रेम तो फिर अंश के है और समग्र के बीच होता है बूंद के और सागर के बीच होता है दो बूंदों का प्रेम तो देख लिया वो टूट टूट जाता है बिखर बिखर जाता है उसकी सीमाएं इसलिए अब एक ऐसा प्रेम देखने की आकांक्षा अभीपसा पैदा होती जिसकी कोई सीमा नहीं असीम के साथ प्रेम का भाव उठता है वही भाव मेरी दृष्टि में असली सन्यास है लेकिन मेरा सन्यास तो कष्टपूर्ण मालूम पड़ेगा एक मित्र ने पूछा है नाम है मित्र का पंडित लज्जा शंकर झा पूछा है कल आपके आश्रम को देखकर मन को बड़ी पीड़ा हुई यह कैसा आश्रम न कोई मंदिर न कोई पूजा पाठ न कहीं चिंतन मनन न कहीं यज्ञ हवन सुबह हरि कथा के स्थान पर साधु संतों शास्त्रों पुराणों की खोटी निंदा और हास्य व्यंग ध्यान के नाम पर हो हल्ला नाचना गाना लगता है नए के नाम पर सब चलता है चलती का नाम गाड़ी क्या ऐसे आश्रम को आश्रम ऐसे ध्यानों को ध्यान कहा जा सकता है पंडित लज्जा शंकर झा जब तक मन है तब तक पीड़ा होगी तुम कहते हो कल आपके आश्रम को देखकर मन को बड़ी पीड़ा हुई मन लेकर जो यहां आएगा पीड़ा ही लेके जाएगा मन तो दरवाजे के बाहर ही रखाना चाहिए और आश्रम तो सिर्फ मजाक में कह दिया यूं ये मैं कदा है मधुशाला है लेकिन आप जैसे पंडितों को फंसाने के लिए नाम रख दिया आश्रम वहीं सामने मधुशाला लिखी हो तो आप लज्जा के मारे भीतर आते ही नहीं लज्जा बस आना भी चाहते तो आना सकते पंडित और फिर लज्जा शंकर आते आते रुक गए होते आगे बढ़ गए होते कहीं और चले गए होते आश्रम तो नाम इसलिए रख दिया है कि कुछ बुद्धू सिर्फ आश्रम के कारण ही आते अब मन को पीड़ा तो होगी क्योंकि तुम जो अपेक्षाएं लेके आए होगे वो यहां कोई भी पूरी नहीं होगी तुम्हारी अपेक्षा रही होगी कि मंदिर होगा यहां कोई मंदिर है यहां मगर तुम्हारी अपेक्षा का मंदिर नहीं और मैंने कोई ठेका लिया तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने का न तुम मेरी अपेक्षा पूरी कर सकते हो तो मैं क्यों तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने चलू ना मैं किसी से कोई अपेक्षा रखता हूं और ना किसी की अपेक्षाएं पूरी करने का मैंने कोई जुम्मा लिया है मैं अपने ढंग से जीता हूं तुम अपनी लज्जा में डूबो मरो मुझे अपने गीत गान में मस्त रहने दो तुम्हारी लज्जा तुम्हें मुबारक तुम अपना घूंघट डाल लो बुरके में जियो कि कहीं ऐसी गलत सलत चीजें दिखाई ना पड़ जाए तुम्हें कोई मंदिर ना दिखाई पड़ा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा मंदिर देखने के लिए यहां जरा सूक्ष्म आंखें चाहिए तुम सोच रहे कि घंटा इत्यादि बज रहा होगा मूर्ति वगैरह रखी होगी हनुमान जी बैठे होंगे तो तुम एकदम साष्टांग दंडवत करते एकदम हनुमान चालीसा बकने लगते लेकिन ऐसा कोई मंदिर तुम्हें दिखाई पड़ा नहीं कि बैठे हैं गणेश जी चूहा के ऊपर सवार न शंकर जी दिखाई पड़े तुम्हें कुछ भी दिखाई ना पड़ा न कोई पूजा न कोई पाठ यहां पूजा पाठ ही चल रहा है सतत 24 घंटे अहिर्निस लेकिन यहां की अपनी पूजा है अपना पाठ यहां की अपनी शैली है अपना रंग है अपनी भाषा है अपना ढंग है तुम अपनी अपेक्षाएं लेके आए इसलिए पीड़ा लेके जाओगे इसमें मेरी मजबूरी है मैं क्या कर सकता हूं अपेक्षाएं लेके आओ ही मत निष्पक्ष आके पक्षपात रहित होके अगर देखो तो पूजा भी मिलेगी पाठ भी मिलेगा मंदिर भी मिलेगा और कहते हो न कहीं चिंतन न मन यहाँ चिंतन और मनन से ही तो मुक्त होने की चेष्टा की जा रही मनन से ही तो मन बनता वही तो पीड़ा दे रहा पंडित लज्जा शंकर झा और अभी भी मनन करना है यहाँ मनन से मुक्त होना है मनन से मुक्ति का नाम ही तो ध्यान है चिंतन मनन ध्यान तो नहीं ध्यान का अर्थ है अमनी अवस्था जहां न मनन रहा न चिंतन रहा न विचार रहा न विकल्प रहे न कोई धारणाएं रही वही तो ध्यान का नया लोक नया आकाश अविर्भूत होता है और कहते हो न कहीं यज्ञ हवन यहां कोई पागल इकट्ठे हुए कि यज्ञ हवन करे आग जला के क्या लेना है ऐसे ही भूखा मर रहा है देश अब और आग में घी जलाना गेहूं फेंकने चावल छिड़कने मूर्खताएं काफी नहीं हो चुकी तुम अपनी मूर्खता में मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हो मुझे बख्शो अपने घर यज्ञ हवन जो तुम्हें करना हो करो और तुम कहते हो सुबह हरि कथा के स्थान पर साधु संतों शास्त्रों पुराणों की खोटी निंदा और हास्य व्यंग साधु संतों की निंदा नहीं हो रही लफंगों की निंदा हो रही तुम उनको साधु संत कहते हो मगर मैं मानू तब ना तुम्हारे साधु संत मेरी दृष्टि में साधु संत नहीं है अगर मेरे सन्यासी तुम्हारी दृष्टि में सन्यासी नहीं है तो क्यों अपेक्षा रखते हो कि मेरी दृष्टि में तुम्हारे साधु संत साधु संत हो तुम्हारे साधु संतों में मैं कुछ साधुता नहीं देखता कोई संतत्व नहीं देखता सब तरह का दंभ देखता हूं अहंकार देखता हूं थोथापन देखता हूं पोंगापंथी देखता हूं तोता रटंत बकवास देखता हूं तो कैसे उनकी प्रशंसा करूं किस कारण से उनकी प्रशंसा करूं प्रशंसा करने योग जब भी कुछ होता है तो जरूर मैं प्रशंसा करता हूं फिर वो किसी ने भी कहा फिर मैं कोई संकोच नहीं करता कि किसने कहा है लेकिन सिर्फ तुम साधु संत मानते हो इससे कुछ हल हो जाएगा जैनों ने तुम्हारे कृष्ण को नरक में डाला हुआ है क्योंकि उन्हें वो साधु संत नहीं मालूम पड़े बराबर नरक में डालने के हकदार किताबें उनकी हैं जिस आदमी ने महाभारत का युद्ध करवा दिया इतनी भयंकर हिंसा करवाई लहू की नदियां बहवा दी और जिस आदमी के कारण फिर भारत कभी खड़ा नहीं हो सकता रीढ़ ही टूट गई उस महाभारत के बाद भारत दीन और दुर्बल होता चला गया अगर जैनों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया तो कुछ आश्चर्य तो नहीं वो जैनों को साधु नहीं मालूम पड़े जो आदमी सोलह हजार स्त्रियों को भगा लाया दूसरों की विवाहित स्त्रियों को जोर जबरदस्ती से ले आया वो अगर जैनों को साधु नहीं मालूम पड़े तो क्या आश्चर्य कौन साधु है किसको साधु कहते हो साधु की तो व्याख्या करनी होगी ना कि बस साधु संत कह दिया मामला हल हो गया महावीर हिंदुओं को साधु नहीं मालूम होते किसी हिंदू शास्त्र ने महावीर की साधुता की चर्चा नहीं की बौद्धों को महावीर साधु नहीं मालूम होते बौद्धों ने महावीर का खूब मजाक उड़ाया अपने शास्त्रों में खूब व्यंग कसे उनकी अपनी परिभाषा है साधु की जैन कहते हैं कि महावीर त्रिकालज्ञ उन्हें तीनों कालों का ज्ञान है और बौद्ध शास्त्र कहते हैं खूब त्रिकालज्ञ हमने उन्हें ऐसे घर के सामने भीख मांगते खड़ा देखा है जिस घर में कोई वर्षों से नहीं रहता जब उनको बताया जाता तब पता चलता है कि घर में कोई है ही नहीं और ये त्रिकालज्ञ अतीत भी जानते हैं वर्तमान भी जानते हैं भविष्य भी जानते हैं ये कैसे त्रिकालज्ञ इनको ये भी पता नहीं चल रहा कि घर में कोई नहीं बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि हमने महावीर को सुबह के अंधेरे में कुत्ते के पैर पूछ पर पैर रखते देखा जब कुत्ता भौंका तब उनको पता चला कि अरे कुत्ता है ये त्रिकालज्ञ तो बौद्ध तो महावीर को साधु नहीं मानते और न जैन बुद्ध को साधु मानते क्योंकि जैन तो तभी किसी को साधु माने जब वो समस्त परिग्रह छोड़ दे और समस्त परिग्रह में वस्त्र भी आ जाते और बुद्ध तो वस्त्र पहनते रहे तीन वस्त्र रखते थे वो बहुत परिग्रह हो गया काफी जंजाल हो गया पूरा संसार हो गया तीन वस्त्र जो आदमी रखे है वो अभी कहा साधु तो जैनों ने बुद्ध को कोई साधु नहीं माना तुम सोचते हो जैन तुम्हारे राम को अवतार मान सकते या परशुराम को अवतार मान सकते परशुराम जिसने पृथ्वी को 18 दफे छत्रियों से खाली कर दिया हत्या करता रहा हत्या करता रहा ये चंगेज खां और तैमूर लंग और नादिर शाह सब बचकाने मालूम पड़ते हैं परशुराम ने जितनी हत्या की शायद किसी आदमी ने कभी नहीं की इसको जैन जो अहिंसा को परम धर्म मानते कैसे साधु माने और तुम तो उन्हें अवतार मानते हो साधु ही नहीं ईश्वर का अवतार सवाल यह है कौन साधु है क्या साधु की व्याख्या मोहम्मद की नौ पत्नियां थी क्या तुम सोचते हो जैन और बौद्ध मोहम्मद को साधु मान सकते नौ पत्नियां और जिंदगी भर तलवार हाथ में किस प्रकार के साधु कौन निर्णायक है परिभाषा का बस तुमने तो कह दिया कि सुबह हरि कथा के स्थान पर साधु संतों शास्त्रों पुराणों की खोटी निंदा मेरी अपनी साधु की व्याख्या है जो समाधिस्थ है वह साधु है न तो वस्त्रों से मैं तय करता न तलवारों से तय करता न सूलियों से तय करता न उपवासों से तय करता मेरी तो एक कसौटी है जो समाधिस्थ वह साधु बुद्ध तो वेद को शास्त्र नहीं मानते क्योंकि निन्यानबे प्रतिशत तो तुम्हारे वेद में कचरा है इसको शास्त्र वो माने भी कैसे जैन तो तुम्हारे वेद को शास्त्र नहीं मानते मुसलमान तो तुम्हारी गीता को शास्त्र नहीं मानते और ना ही हिंदू कुरान को शास्त्र मानेंगे न बाइबल को शास्त्र मानेंगे इस दुनिया में 300 धर्म किसके शास्त्र को शास्त्र माने और किसके शास्त्र को शास्त्र न माने मैं तो शास्त्र उसको मानता हूं जो समाधिस्थ व्यक्ति ने बोला हो और जो समाधिस्थ व्यक्ति का बोला हुआ नहीं मालूम पड़ता उसकी जोर से आलोचना करूंगा उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा यही हरी कथा है हरी कथा का अर्थ यह है कि समाधि को उभारना है उघाड़ना है जिस चीज से भी ढकी हो समाधि उसको अलग करना है ये कूड़ा करकट अलग करना होगा तुमको लगती होगी निंदा क्योंकि तुम्हारे अनुकूल कोई बात ना पड़ती होगी लेकिन तब सोच विचार करो तुम यहां चिंतन मनन देखने आए खुद तो थोड़ा चिंतन मन, मनन करो मैं जो भी कह रहा हूं उसके पीछे कुछ बल है मेरा अपना अनुभव का बल है सोचो समझो प्रयोग करो और अगर हिम्मत हो तो ध्यान करो और तभी तुम्हारे पास कसौटी होगी जांचने की कि जो मैंने कहा वो सार्थक था या नहीं इतने जल्दी लजाओ ना इतने जल्दी मन को पीड़ा ना दो इतनी जल्दबाजी में कुछ हल ना होगा तुम्हारे शास्त्र पुराण हाँ कभी कभी उन शास्त्रों पुराणों में कोई हीरा मिल जाता है तो मैं उसे सिर पर उठा लेता हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक हीरे के कारण पूरा कूड़ा करकट से भरा हुआ ट्रक भी धोता फिरूं हीरे को उठा लेंगे कूड़े करकट को तो आग लगा देंगे पारखी की नजर चाहिए अब तुम्हारे पुराणों में क्या है कपोल कल्पनाएं झूठी कथाएं व्यर्थ की बातें बचकानी ओछी उनको कैसे हरी कथा कहें लेकिन तुम्हें कठिनाई हो रही कि ध्यान के नाम पर हो हल्ला स्वभाव था जिसको संगीत समझ में ना आता हो उस संगीत में हो हल्ला मालूम होगा और जिसको मस्ती ना आती हो उसको नाचना गाना ध्यान नहीं मालूम होगा लेकिन यहां ध्यान और मस्ती का समागम हो रहा है यहाँ जो नाच रहे हैं वो सिर्फ नाच नहीं रहे भीतर स्वयं को साध भी रहे बाहर नृत्य है और भीतर मौन है सन्नाटा है शून्य बाहर गीत है और भीतर गहन शून्य गहन प्रशांति है मगर ये तो तुम संयुक्त होगे तब ये तो तुम बाहर से देख के ही चले तुम्हारा तो मन पीड़ा से भर गया आप क्या तुम सम्मिलित हो सकोगे तुम्हें लगता है कि नए के नाम पर सब चलता है इस देश में तो तुम गलती बात कह रहे हो यहां तो पुराने के नाम पर सब चलता है और चलती का नाम गाड़ी मगर पुराने के नाम पर सब चलता है यहां नए के नाम पर कुछ तो चला के देखो छाती चाहिए नए के नाम पर कुछ चलाने को पुराने के नाम पर कुछ दिक्कत नहीं पुराने के नाम पर सब चलता है बस पुराने का उल्लेख भर कर दो कि सब चल जाता है तो एक मित्र ने पूछा है कि भगवान आप कहते हैं कि भगवत्ता है भगवान नहीं फिर आप तुलसीदास से सहमत क्यों नहीं वे भी तो कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी उनका भी तो वही अर्थ है जो आपका क्या उनका यह पद भगवत्ता की धारणा को सिद्ध नहीं करता राम प्रवेश सिंह चौहान तुलसीदास और मेरी बात में कोई तालमेल कहीं भी नहीं दूर का भी नाता रिश्ता नहीं तुलसीदास को कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया यूं तो लिखते हैं कि सियाराम में सब जग जानी लेकिन जब उन्हें कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया तो वो कृष्ण की मूर्ति को झुके नहीं उन्होंने कहा मैं तो राम का भक्त हूं जब तक धनुष बाण हाथ नहीं लोगे मैं सिर ना झुकाऊंगा ये सब जग में सियाराम को देखते ये कृष्ण में भी सियाराम को नहीं देख पा रहे अच्छी अच्छी बातें करना एक बात सियाराम में सब जग जानी तो फिर ये कृष्ण भर को छोड़ दिया जगत के बाहर क्यों कृष्ण के सामने सिर झुकाने में अड़चना आ रही अब कृष्ण कोई मोहम्मद भी तो नहीं कृष्ण कोई जीसस भी तो नहीं कोई मूसा भी तो नहीं कोई महावीर भी तो नहीं कोई जरथुस्त्र भी तो नहीं उन्हीं हिंदुओं के अवतार हैं जिनके राम अवतार हैं कृष्ण के सामने सिर झुकाने में क्या अड़चन आ रही यही अड़चन आ रही कि वो तो धनुष्वाण वाले राम के भक्त और जब तक धनुष बाण हाथ नहीं लोगे तुलसी झुके न माथ ये तुलसी का माथा भी शर्त के साथ झुकता है और अगर सारे जगत में सिया और राम का ही प्रवेश है तो फिर ये ढोल गमार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये तुलसीदास क्या अफीम खा गए थे जब बोले जब सब सियाराम में ही है तो ढोल गंवार ये भी सियाराम शूद्र पशु नारी ये भी सियाराम और ये सब ताड़न के अधिकारी रामचंद्र जी की पिटाई करोगे ताड़ोगे सताओगे राम प्रवेश सिंह चौहान थोड़ी बुद्धि का उपयोग करो मैं जिस भगवत्ता की बात कर रहा हूं बेचारे तुलसीदास क्या करेंगे उस भगवत्ता की बात ये तो लकीर के फकीर मगर पुराने का नाम यहां चलता है पुराने की साख यहां चलती नए की नहीं नए को तो बड़ी अड़चन है और प्रेम को तुमने पूछा है कि क्या कभी नष्ट होता या नहीं शरीर का स्थिर होता है क्योंकि होता ही नहीं मन का नष्ट होता है क्योंकि मन क्षण भंगुर है लेकिन आत्मा का शाश्वत है क्योंकि आत्मा शाश्वत है जिस तल पर प्रेम होगा उस तल का ही होगा शरीर के तल पर काम मन के तल पर प्रेम और आत्मा के तल पर प्रार्थना प्रार्थना शाश्वत है तुम जिस प्रेम को अभी समझते हो वह तो टिकने वाला नहीं कोई है कोई भी तो नहीं न हवा न रंग न गुल न बू एहसास सिर्फ एक एहसास धूप भी भूल गई हो रास्ता जैसे मेरे घर का जमे गफीर यह खोखली सी भीड़ हर लम्हा मुंजमिद हर घड़ी साकित न सुबह न शाम न दिन न रात एहसास सिर्फ एक एहसास मेरे जिस्म में चुभ रहा है अजनबीपन हर नजर का एक आवाज कोई तो दे दे हाय एक दस्तक कोई तो दे दे ये प्रेम तो जल्दी ही चला जाता कोई दस्तक देने वाला भी नहीं मिलता ख्यालो शेर की दुनिया में जान थी जिनसे फिजाए फिक्र अमल अरगवान थी जिनसे वो जिनके नूर से सादाब थे महो अंजुम जिन्होंने इसकी हिम्मत जवान थी जिनसे वो आरजुए कहा सो गई हैं मेरे नदीम वो आरजुएं कहा सो गई हैं मेरे नदीम वो नासबूर निगाहें वो नासबूर निगाहें वो मुंतजिर राहें वो पास जब से दिल में दबी हुई आहें वो इंतजार की रातें वो इंतजार की रातें तवील तिरह वतार वो नीम ख्वाब सबिस्तान वो मखमली बाहें कहानियां थीं कहानियां थी कहीं खो गई हैं मेरे नदीम मचल रहा है रगे जिंदगी में खूने बहार उलझ रहे हैं पुराने गमों से रूह के तार चलो कि चल के चिरागा करें दियारे हबीब चलो चलो कि चल के चिरागा करें दियारे हबीब है इंतजार में अगली मोहब्बतों के मजार मोहब्बतें मोहब्बतें जो फना हो गई हैं मेरे नदीम मेरे दोस्त मेरे साथी कहा खो गए वे दिन ख्यालों शहर की दुनिया में जान थी जिनसे कविताओं में प्राण थे जिनसे फिजाए अम्र अमल अरगवान थी जिनसे वो जिनके नूर से सादाब थे माहवांजम जिनकी रोशनियों से चांद तारे चमकदार थे जुनून इसकी हिम्मत जवान थी जिनसे प्रेम का पागलपन प्रेम की मस्ती जिनके कारण जवान थी वो आरजुए कहा सो गई हैं मेरे नदी मेरे मित्र मेरे साथी मेरे संगी वो आकांक्षाएं कहा सो गई कहा खो गई वो नासबूर निगाहें वो बेचैन निगाहें वो मुंतजर राहें वो पास जब से दिल में दबी हुई आहें वो इंतजार की रातें तवील तीरह व तार वो नीम ख्वाब सबिस्ता वो मखमली बाहें कहानियां थी कहानियां थी कहीं खो गई हैं मेरे नदीम मन के जगत में तो सब कहानियां हैं सब खो जाएंगी मचल रहा है रगे जिंदगी में खूने बहार उलझ रहे हैं पुराने गमों से रूह के तार चलो चलो कि चल के चिरागा करें दियारे हबीब वो है इंतजार में अगली मोहब्बतों के मजार सब मजार बन जाते सब कब्रें हो जाती मोहब्बतें मोहब्बतें जो फना हो गई हैं मेरे नदीम सब मोहब्बतें मर जाती सब प्रेम मर जाते जो जन्मता है वो मर जाता है लेकिन एक ऐसा प्रेम भी है जो जन्मता ही नहीं जो तुम्हारे भीतर ही छिपा पड़ा है जिस दिन तुम उसका आविष्कार कर लोगे वही तुम्हारी आत्मा है वही तुम्हारा परमात्मा है तुम हो मंदिर और तुम्हारे भीतर छिपा है प्रेम का एक सागर लेकिन उसके लिए गहरी डुबकी मारनी होगी ध्यान की विचार से नहीं होगा चिंतन मनन से नहीं होगा शास्त्र से नहीं होगा साधु संतों से नहीं होगा मंदिर मस्जिदों में घड़ियाल अजाने देने से नहीं होगा यज्ञ हवन करने से नहीं होगा सिर्फ एक ही कला है उस प्रेम को उघाड़ लेने की जो अजन्मा है और अमृत है और वह कला है ध्यान निर्विचार हो रहो निर्विकल्प हो रहो ऐसे शांत हो जाओ कि भीतर कोई चहलकदमी ना रहे कोई शोरगुल ना रहे कोई तरंग भी ना उठे निस्तरंग हो जाओ अकंप जले तुम्हारी चेतना की लौ जैसे दिया जले ऐसे घर में जहां हवा का कोई झोंका भी ना आता हो तब तुम खोज पाओगे अपने भीतर के शाश्वत स्वर को शाश्वत संगीत को वह प्रेम कभी नहीं मिटता है उसकी ही तलाश है और जब तक उसे हमने नहीं पा लिया है तब तक हमने कुछ भी नहीं पाया है दूसरा प्रश्न भगवान बुल्ले शाह की सत्य के संबंध में एक काफी मुंह आई बात न रहिंदी ए सच कहाता भांबड़ मचदाए झूठ आखाता कुछ ना बचदाए दिल दोहा गला तो मचदाए जच जच के जीभा कह दिए मुंह बात आई बात न रह दिए जिस भेद पाया कलंदर दा राह खोजिया अपने अंदर दा ओह वासी है उस मंदर दा जिथे दी है न लह दिए मुंह आई बात न रह दिए साह अकल तू आया कर सानू अदब अदाब सखाया कर मैं झूठी नू समझाया कर जो मूरख मां है नु कहंदिए मुंह आई बात न रह दिए इथे दुनिया विच हनेरा है अति तिलकन बाजी बेहड़ा है अंदर वड़ के देखो केहड़ा है बाहर खुफतान पई ढूंढी दिए मुंह आई बात न रह दिए एक लाजम गल अजल्दी है सानुबात मामूली शब्दी है हर हर विच सूरज रबदी है कहूं जाहर कहूं छपेंदी है मुंह आई बात न रहेंदी है इत लेखा पाओ पसारा है इस दा बखरा भेद न्यारा है एक सूरत दा चमकारा है जो चिंग दारू विच पेंदी है मुंह आई बात न रहंदी है जदों बाहर होए नूर होरी जल गए पहाड़ को तूर हो रही तदुतार चढ़े मंसूर हो रही उथे सेखी की मेहंडिये मुंह आई बात न रहंदिये जब जाहर करा तकसार ताई सब भूल जावन इकरार ताई फिर मारन बुल्ले यार ताई इथ मुगदी गल सुहिंदिये मुंह आई बात न रहंदिये असा पढ़िया इलम हकीकी है उठे एक तरफ उठे एक हरफ तहकीकी है और झगड़ा सब वधी की है एवेरोला पापा दिए मुंह आई बात न दिए बुलिया सोह असाथी वख नहीं बिना सोए थी दूजा कख नहीं पर देखन वाली अख नहीं तही जान पई दुखड़े सहदिये मुंह आई बात न रहदिए भगवान निवेदन है कि बुल्ले साहे की इस काफी पर कुछ कहें चैतन्य कीर्ति यह काफी तो सच में ही प्यारी है एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करो मुंह आई बात न रह दिए सच कहा तब भाबड़ मचदाए झूठ आखा ता कुछ न बचदाए दिल दोहा गला तो मचदाए जच जच के जीवा दिए मुंह आई बात न रह दिए अर्थात मुंह आई बात रुकती नहीं सच कहूं तो तूफान खड़ा होता है झूठ कहूं तो कुछ बचता नहीं दिल को दोनों बातों से आग लगती है इसलिए जबान संभाल संभाल के कहती फिर भी मुंह आई बात रुकती नहीं सत्य को जिसने जाना है उसे कहना ही पड़ा है कहना ही पड़ेगा फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी दिया जलेगा तो रोशनी फैलेगी सूरज उगेगा तो सुबह होगी मुंह आई बात न रहती है जब सत्य भीतर आता है तो रोका नहीं जा सकता कोई उपाय नहीं बहेगा दूसरों तक पहुंचेगा हालांकि खतरे और तुम जो यहां मेरे पास हो खतरों को देख रहे हो सच कहूं तो तूफान खड़ा होता सच कहां तब भाबड़ मचदाए भांबर तूफान से भी प्यारा शब्द कैसा भांबड़ मचा हुआ है अभी पंडित लज्जा संकट जाग क्या भांबड़ मचा रहे कहा भूले भटके आ गए कहीं यज्ञ हवन करते यहां कहा दीवानों की बस्ती में आ गए लेकिन सारे देश में मुझे गालियां दी जा रही देश में नहीं परदेश में भी सच कहां तभावड़ मच जाए झूठ आंखा तक कुछ न बच जाए और अगर झूठ कहूं तो भीतर की गवाही नहीं आंख गवाही नहीं देती जो दिखाई पड़ता वही कहूंगा जो दिखाई नहीं पड़ता वो कैसे कहूं और सच कहूं तो मुसीबत खड़ी होती झगड़ा खड़ा होता है तूफान उठता आंधी उठती और अगर झूठ कहूं तो कैसे कहूं झूठ कहूं तो सच का कुछ उसमें बचता नहीं आंखों की कोई गवाही नहीं रह जाती दिल दोहा गला तो मचता है और दिल है कि हर हाल में दुखता है अगर सच कहूं तो चारों तरफ तूफान उठता है नाहक लोग दुखी होने लगते अभी पंडित लज्जा शंकर झाके मन को बड़ी पीड़ा हो गई सच कहो तो मुसीबत है सच जियो तो मुसीबत है दिल दोहा गला तो मचदाए जज जज के जीवा कह दिए तो कोशिश करता हूं बुल्ले शाह कहते हैं कोशिश करता हूं संभल संभल के कहूं मगर कितना ही संभल के कहो अरे संभल संभल के ही किसी की गर्दन काटो फिर भी तो चीखेगा चिल्लाएगा तो ही संभल संभल के ही किसी के शास्त्रों में आग लगाओ संभल संभल के ही किसी के हनुमान जी छोड़ छुड़ाओ किसी के गणेश जी को हटाओ झंझट तो होने वाली है जिस भेद पाया कलंदरदा कहते हैं जिसने उस प्रभु का राज पा लिया जिसने अपने भीतर की राह खोज ली उसने पा लिया वह उस मंदिर का वासी है जहां कोई उतार चढ़ाव नहीं मुंह आई बात रोकी नहीं जा सकती पंडित लज्जा शंकर झा कहते हैं कि यहाँ ना कोई मंदिर ना कोई पूजा और बुल्ले साय कह रहे हैं जिस भेद पाया कलंदर का जिसने उस प्रभु का राज पा लिया राय खोजिया अपने अंदर दा अब वो क्या खाक मंदिरों की तलाश करे उसे मंदिर मिल गया अपने भीतर मिल गया वो स्वयं मंदिर है जहां बुद्ध पुरुष बैठते हैं वहां मंदिर जहां चलते हैं वहां तीर्थ जहां ठहर जाते हैं क्षण भर को वहां काबा बन जाते हैं और काशी बन जाती काबा और काशी तो पागल जाते बुद्ध पुरुष अपने भीतर जाते राह खोजिया अपने अंदर दा और वासी है उस मंदिर दा क्योंकि वहीं तो मालिक बसा हुआ है क्या तुम मट्टी पत्थर के मकानों में उसे खोज रहे हो कहा मंदिरों मस्जिदों में खोज रहे हो वो बासी है उस मंदिर का जिथे चढ़ती है न लहंदी वहां न कोई उतार है न कोई चढ़ाव है वहां कोई परिवर्तन नहीं वहां शाश्वतता है वहां ना कोई जन्म है ना मृत्यु है मुंह आई बात न रहती है क्या करूं बुल्ले शाह कहते मुंह में बात आई जा रही आई जा रही कहनी ही पड़ेगी अब मंदिरों के मानने वाले नाराज हो जाएं और मस्जिदों के मानने वाले नाराज हो जाएं तो हो जाएं किया क्या जा सकता है संभल संभल के कह रहा हूं मैं भी कितने संभल संभल के कह रहा हूं मगर कुछ भी करो कितने ही संभल के कहो जिनके पक्षपात हैं उनको चोट तो पहुंचेगी ए साह अकल तू आया कर सानू अदब अदाब सखाया कर कहते हैं कि ए बुल्ले साह तू जरा अकल से काम ले ये मस्ती की बातें ये दीवानगी की बातें ये पागलपन की बातें यूं ही मत कह दे बहुत भांबड़ मचेगा ए बोले साह जरा अकल को बोला ये अकल कहां खो गई असल में अकल के पार कोई जब जाता है तभी तो उसे पाता है ये मुसीबत है अकल के जो पार गए उन्होंने उसे पाया और जब उसको पाया तो बेचारे खोजते हैं अकल को कि किसी तरह मिल जाए तो जरा संभल संभल के कह सके तू आ और अदब आदाब समझा अरे जरा आ और जरा ढंग की बातें कहलवा अदब आदाब शिष्टाचार मैं भी लाख कोशिश करता हूं कि शिष्टाचार बरतू मगर क्या करूं लफंगों को कैसे महात्मा कहूं बामड़ मचे तो मचे बुल्ले साहे तो भले आदमी रहे होंगे बेचारे कहते हैं कि बुलाता हूं अकल को ए अकल आ हाँ। और मुझे अदब आदाब समझा हालांकि मुझे पता है अकल आई नहीं गई तो गई फिर क्या आएगी खुद ही तो राख कर आए अब कहां से लाओगे मगर भले आदमी मैं उतना भला आदमी नहीं मैं अकल मकल को बुलाता नहीं मेरे पिता के पिता मेरे बाबा हमेशा पूछा करते थे हर एक से पूछा करते थे मगर मैंने उनका प्रश्न सदा के लिए समाप्त कर दिया मोहल्ले भर के बच्चों से पूछा करते थे अकल बड़ी की भैंस स्वभाव तो सभी कहते अकल बड़ी वो कहते ठीक कहता है मुझसे पूछा उन्होंने अकल बड़ी की भैंस मैंने कहा भैंस उन्होंने कहा क्या कहा तूने भैंस मैंने कहा निश्चित क्योंकि अकल तो आपकी खोपड़ी के भीतर भैंस को तो रख सकते अपनी खोपड़ी के भीतर अगर भैंस को रख के बता दो तो मैं मान लू के अकल बड़ी की भैंस साफ हो जाएगा फिर मैंने कहा तुम पूछते हो अकल बड़ी की भैंस कोई भैंस नहीं पूछती पूछती ही नहीं जानती ही है कौन बड़ा पूछना क्या है अरे प्रश्न वो पूछे जिसको पता नहीं अकल को पता होता तो पूछती क्यों भैंस को पता है इसलिए चुप है फिर उन्होंने नहीं पूछा फिर मैं उनसे कई बार कहता आजकल पूछते नहीं अकल बड़ी के भैंस बोले चुप रहे बेकार की बात है ना छेड़ कम से कम मेरे सामने उन्होंने फिर किसी से नहीं पूछा अकल बड़ी की भैंस क्योंकि वो उनको दिक्कत खड़ी हो गई कि भैंस को सिद्ध करना पड़ेगा इतनी सी छोटी खोपड़ी में अकल तो मैं नहीं बुलाता अकल को बुल्ले सा कहते अकल तू आ अदब आदाब समझा इस झूठी मैं को समझा जो मुझे मूर्ख कहती है वो ये कह रहे हैं कि मेरा अहंकार ही मुझे मूर्ख कहता है कहता है कि क्यों इतना भांभड़ मचवा रहा है अरे चुप हो लोग सम्मान करेंगे चरणों में फूल चढ़ाएंगे क्यों पत्थर खाने चला है तो अकल को कहते हैं कि तू आजा कुछ मेरे इस अहंकार को भी समझा ये पागल मुझसे कह रहा है कि अगर सम्मान पाना हो तो सत्य की बात न कह असल में अंधों की इस दुनिया में अगर आदर पाना हो तो कभी आंख की बात न करना अंधों की दुनिया में महा अंधे पूजे जाते हैं मुझे अनेक पत्र आए हैं कि मैंने मदर तेरेसा की आलोचना की उन सभी पत्रों ने एक बात बार बार दोहराई कि मदर तेरेसा को सारी दुनिया में सम्मान मिला एक अकेले आप हैं जो उसकी आलोचना कर रहे हैं जो जगत सम्मानित नोबल पुरस्कार विजेता है भारत रत्न की उपाधि जिसे मिली जिसे हर देश में होड़ लगी हुई कि हर देश जिसको सम्मान दे उसके आप अकेले आलोचक इस दुनिया में महा अंधे हो कोई तो अंधों की भीड़ उनको नोबल प्राइज भी देगी भारत रत्न भी देगी जगह जगह उनको सम्मान भी मिलेगा पुरस्कार भी मिलेगी मैं इन पत्र लिखने वालों से पूछता हूं क्या तुम सोचते हो जीसस को नोबल पुरस्कार मिल सकता था तो फिर सूली क्यों मिली जीसस को भारत रत्न की उपाधि मिल सकती थी असंभव जीसस को पत्थर मिले बड़ी भांबड़ मची और मदर तेरेसा को पुरस्कार मिल रहे हैं और मदर तेरेसा को लोग समझते हैं कि जीसस की अनुयायी भांबड़ मेरे पास मच रही है तो जीस का संगी साथी कौन है मैं हूं या मदर तेरेसा सूली लगे तो मुझे लगेगी मदर तेरेसा को नहीं लग सकती मंसूर को सूली लगी सरमत को सूली लगी लेकिन किसी पंडित पुरोहित को थोड़ी लगती है उसको सम्मान मिलता है उसको पुरस्कार मिलते हैं आदर मिलता है बुल्ले शाह ठीक कहते हैं इस दुनिया में अंधकार है इसका आंगन फिसलन भरा है भीतर प्रवेश करके देखो कौन है बाहर व्यर्थ ढूंढ रहे हो अब मुंह में बात आ गई तो रुकती नहीं कहते कहना ही पड़ेगी इस दुनिया में अंधकार है और तुम अंधे हो इसका आंगन फिसलन भरा है भीतर प्रवेश कर देखो देखो कौन है बाहर क्यों व्यर्थ ढूंढ रहे हो ये मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजे तो सब बाहर ये काबा और काशी और गिरनार ये तो सब बाहर है ये कृष्ण ये महावीर ये बुद्ध ये सब तो बाहर है अपने भीतर आओ तो शायद तुम उसको पा सको जो पाने योग्य है प्रत्येक चेहरे में परमात्मा की छवि है कहीं छिपी है कहीं प्रकट बस इतना ही फर्क है ये मैं तुमसे बार बार कहा कहीं परमात्मा सोया कहीं जगा बस इतना ही फर्क है बुद्ध में और तुम में कोई फर्क नहीं इतना ही फर्क है कि बुद्ध ने आंखें खोल दी और तुम आंखें बंद किए बैठे हो कि बुद्ध ने अपने दरवाजे खोल दिए और तुम दरवाजे अटकाए बैठे हो बस इतना ही फर्क जरा सा फर्क है प्रत्येक चेहरे में परमात्मा की छवि है कहीं छिपी है कहीं प्रकट सबके संबंध में हमें ये पता है और यह बात हर बुद्धिमान को भी मालूम मुंह में बात आ गई तो रुकती नहीं ये बुद्धिमान जिनको ये बात मालूम निश्चित ही स्वयं के अनुभव से मालूम नहीं उधार है अभी पंडित लज्जा सुनकर झा आ गए ये बुद्धिमान आदमी मालूम होते पंडित है अब इनको फिक्र पड़ी कि यहां हरी कथा तो हो ही नहीं रही यहां तो कुछ और ही हो रहा है यहां शास्त्रों के सत्कार और सम्मान में तो कुछ कहा नहीं जा रहा यहां तो शास्त्रों की आलोचना हो रही लेकिन बुल्ले है के सम्मान में मैं राजी हूं बुल्ले शाह शाहों के शाह है क्या तुम्हारे सड़े सड़ाए पुराणों की मैं चर्चा करूं अगर तुम खुद ही उनको उठा के देखोगे तो हैरान होगे कि क्या क्या गंदगी उनमें भरी है और कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातों का आडंबर जहां भी कोई बात सार्थक मेरा समर्थन है मगर मेरा समर्थन तभी जब मेरे सत्य से वो अनुकूल पड़ती हो और किसी कारण से मैं समर्थन नहीं देता फिर किसी ने भी कही हो कृष्ण ने कही हो कि बुद्ध ने कि महावीर ने कि राम ने कि मोहम्मद ने अगर मैं उसके लिए अपने अनुभव में नहीं पाता हूं तो मैं राजी नहीं हो सकता मेरी जिम्मेवारी मेरा उत्तरदायित्व मेरी चेतना के प्रति किसी और के प्रति नहीं एक लाजम गल अदलदी है सानुबात मामूली शब्दी है हर हर विच सूरज रबदी है कहूं जाहर कहूं छपेंदी है कहीं छिपी कहीं जाहिर और ये बात सबको मालूम जिनको बुद्धिमान कहते हैं उनको तो बहुत मालूम मगर बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धू इस दुनिया में कोई भी नहीं क्योंकि असली बुद्धिमत्ता तो बुद्धि के पार जाने में बुद्धि तो कचरा इकट्ठा करने में लगी रहती पंडित तो तोते होते यहां सब उसी का विस्तार है इसका अपना अनूठा रहस्य यहां उसी एक की सूरत की चमक जैसे जंगल में चिंगारी लग जाए मुंह आई बात रुकती नहीं इथे लेखा पाव पसारा है इस द बखरा भेद न्यारा है एक सूरत द चमकारा है जो चिंग दारू बिच पेंदिए मुंह आई बात न रह दिए जरा सी चिंगारी जैसे सारे जंगल को आग लगा देती ऐसे एक व्यक्ति के भीतर भी परमात्मा का अनुभव जग जाता है तो आग लगनी शुरू हो जाती आग फैलनी शुरू हो जाती भांबर तो मचेगा आग लगेगी तो भांबर तो मचेगा अरे बाहर की आग लगती थी इतना भांबड़ मच जाता है भीतर की आग लगेगी तो भांबड़ तो बहुत मचेगा अरे झूठा ही चिल्ला दो कि आग लग गई तो भांबड़ मच जाता है आज ही रात जाके किसी टाकीज में बैठ जाना और बीच में एकदम चिल्ला देना आग आग और देखना कैसा भांबड़ मचता है शब्द ही भांबड़ मचा देगा और भीतर की आग तो निश्चित ही अहंकार को जलाएगी ज्ञान को जलाएगी तुम्हारे सब संस्कारों को जलाएगी तो पीड़ा तो होगी भीतर की आग तुम्हें मारेगी और नया जन्म देगी तुम्हारा पुराना रूप तो जाएगा और तुम्हारा नया रूप प्रकट होगा ये इतनी बड़ी क्रांति है कि तूफान तो मचेगा जब नूर प्रकट हुआ तो कोहतूर पर्वत जल उठा तब मंसूर सूली चढ़ गए मैं की अकड़ क्या मुंह आई बात रुकती नहीं बुल्ले शाह कहते हैं कि जब नूर प्रकट हुआ तो कोहतूर पर्वत जल उठा कोहतूर पर्वत पर तूर के पर्वत पर जीसस को परमात्मा के दर्शन हुए सारा पर्वत ऐसा लगा कि जैसे आग लग गई हो जब परमात्मा का नूर प्रकट होता है तो आग तो लगती पर्वत तक जल उठते लेकिन कुछ लोगों की हालत तो पर्वतों से भी बिगड़ी उनके हृदय में तो पत्थर ही पत्थर है पत्थर भी जल जाते मगर वो नहीं जलते जल जाएं तो जीवंत हो जाए कहते हैं कोहतूर पर्वत जल उठा लेकिन जब किसी के भीतर ये पर्वत जलता है और किसी के भीतर ये नूर प्रकट होता है तो उपद्रव होने वाला है मंसूर को सूली इसीलिए तो लगी भीतर नूर प्रकट हुआ अंधों को बात जची नहीं अंधों को बहुत कठिनाई होगी मंसूर ने एक ही तो बात कही थी बेचारे का कसूर क्या था इतना ही तो कसूर था कि उसने घोषणा की अनल हक कि मैं ईश्वर हूं कि मैं सत्य हूं बस इतनी ही उसके संबंध में शिकायत है कि उसने अपने को भगवान होने की घोषणा कर दी अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर दिया बस पर्याप्त कठिनाई शुरू हो गई मैंने जिस दिन से घोषणा की भगवत्ता की उस दिन से कठिनाई शुरू हो गई उसके पहले सब ठीक था मैं यही बातें तब भी कह रहा था जरा संभल संभल के कह रहा था फिर मैंने देखा कि क्या फायदा संभल संभल के कहने में क्योंकि संभल संभल के कहने में लोगों की नींद ही नहीं खुलती वो घर राते ही रहते हैं घुर्राते ही रहते हैं वो अपनी नींद में अल्लबल बकते ही रहते तो मैंने फिर उनके ऊपर ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया झकझोर के उनको उठाना शुरू कर दिया उनके कंबल दुलाइया छीननी शुरू कर दी उस काम की शुरुआत मैंने इस बात की घोषणा से की जो मंसूर ने की थी अनल हक बस कोराम मच गया भांबड़ मच गया अब मुझे लोग लिखते हैं कल ही एक पत्र मुझे आया कि अगर आप भगवान हैं तो फिर अकाल क्यों पड़ता है फिर गरीबी क्यों फिर नदियों में बाढ़ क्यों आती तो मैं इनसे पूछता हूं कि यही सवाल तुम राम से पूछते हो कि नहीं कि सिर्फ मुझसे ही पूछते हो यही सवाल कृष्ण से पूछते हो कि नहीं कि मुझसे पूछते हो यही सवाल बुद्ध से भी पूछो महावीर से भी पूछो यही सवाल जीसस से भी पूछो और यही सवाल मोहम्मद से भी पूछो अगर ये सब इस सवाल का जवाब देने को राजी हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि रोक दूंगा अकाल रोक दूंगा गरीबी रोक दूंगा तूफान मगर इनने किसी ने नहीं रोका तो मैं ही क्यों इस झंझट में पड़ पड़ू जब कोई इस झंझट में नहीं पड़ा और कोई इनसे नहीं पूछता मुझसे लोग पत्र लिख लिख के पूछते हैं कि अगर आप भगवान तो आप गरीबों की सेवा क्यों नहीं करते अस्पताल क्यों नहीं खोलते स्कूल क्यों नहीं खोलते महावीर ने कितने स्कूल खोले बुद्ध ने कितने अस्पताल चलाए मोहम्मद ने कितने विद्राश्रम और कितने अनाथालय चलाए मुझसे ही ये सवाल क्या पूछने भगवत्ता से इसका क्या लेना देना है लेकिन लोग बड़े अजीब हैं ये सवाल वो बुद्ध से भी पूछते थे ये सवाल वो महावीर से भी पूछते थे अब नहीं पूछते आप चुपचाप पूजा करते मुर्दों की पूजा की जाती है जिंदों के साथ झंझट खड़ी हो जाती और केवल जिंदा व्यक्ति ही तुम्हारे जीवन में चिंगारी दे सकता है मुर्दे तो क्या चिंगारी देंगे वो तो खुद ही राख हो चुके अभी जिस तूर पर्वत पर आग लगी हो उससे कुछ आग ले लो मगर अभी तो भांबड़ में उलझे रहोगे जब नूर प्रकट हुआ तो कोतूर पर्वत जल उठा तब मंसूर सूली चढ़ गए मैं की अकड़ क्या मुंह आई बात रुकती नहीं ये मैं तो जल जाएगा अरे मंसूर सूली चढ़ गए जब नूर प्रकट हुआ ये तुम्हारा अहंकार तो राख हो जाएगा मगर इसी अहंकार को बचाने की कोशिश में लगा रहता हर आदमी इसी कोशिश में लगा हुआ है यदि मैं इसे साफ अभिव्यक्ति दू सब लोग अपने इकरार भूल जाते फिर वे बुल्ले को मारने दौड़ते यहां मरे हुए की बात की शोभा है मुंह आई बात रुकती नहीं जे बाहर करा तकसार ताई सब भूल जावन इकरार ताई फिर मारन बुल्ले यार ताई इत मुक्ति गल सुहेंदी है मुंह आई बात न रही दी बुल्ले कहते हैं बड़ी अजीब दुनिया है यदि मैं साफ साफ बात कहूं तो लोग भूल ही जाते शिष्टाचार भी भूल जाते हैं एकदम गालियां देने को मारने को उतारू हो जाते सामान्य जीवन व्यवहार के नियम भी भूल जाते वे बुल्ले को मारने दौड़ते यहां मरे हुए की बात की शोभा है क्या प्यारी बात कही कि हम मरे हुओं की बात की शोभा है यहां बुद्ध की बात की शोभा है यहां महावीर की बात की शोभा है यहां कृष्ण की बात की शोभा है यहां जीसस की बात की शोभा है तब नहीं थी जब वो जिंदा थे तब महावीर पर लोगों ने पत्थर मारे पागल कुत्ते छोड़े कानों में खीले ठोंक दिए जिंदा आदमी के साथ तुम कैसा सदव्यवहार करते हो इसलिए जब मुझे गालियां पड़ती हैं और निरंतर पड़ती सब तरह की गालियां पड़ती तो मैं सोचता हूं कि अच्छे लक्षण मेरा सौभाग्य क्योंकि मेरे साथ ये वही व्यवहार कर रहे हैं जो उन्होंने बुद्ध के साथ किया कृष्ण के साथ किया महावीर के साथ किया जीसस के साथ किया मैं तो इसे ही पुरस्कार मानता हूं नोबल पुरस्कार तो मुझे मिले तो मैं लेने से इंकार कर दूंगा क्योंकि वो तो अपमान होगा क्योंकि जीसस को मिला नहीं ऐसा कोई पुरस्कार महावीर को मिला नहीं बुद्ध को मिला नहीं वैसे पुरस्कार को लेके मैं क्या करूंगा वो तो मैं अपनी जात से ही बाहर निकल जाऊंगा कुजात हो जाऊंगा हमने इल्म हकीकी पढ़ लिया है वहां बस उस एक अक्षर की तहकीक है बाकी सब झगड़े फालतू व्यर्थ की व्यर्थ ही यह मैं यह अहंकार झगड़ा करता है मुंह आई बात रुकती नहीं ऐसा पढ़िया इलम हकीकी है उसे एक हरफ तहकीकी है बस एक अक्षर की बात है अक्षर की जो कभी क्षय ना हो जो कभी क्षर ना हो जो कभी मरे नहीं मिटे नहीं उसे एक अमृत को जान लेने की बात है और झगड़ा सब वधी की और सारा झगड़ा व्यर्थ है एवे रोना पापा बहन दिए मुंह आई बात न रहन दिए ये व्यर्थ अहंकार के झगड़े हिंदू के और मुसलमान के और ईसाई के और सिख के ये सारे झगड़े व्यर्थ हैं बुल्ले शाह कहते हैं परमात्मा शोहर हमसे अलग नहीं बिना परमात्मा के यहाँ कुछ भी नहीं पर देखने वाली आंख नहीं है इसलिए प्राण दुख दे रहे, देख रहे दुख पा रहे मुंह आई बात रुकती नहीं पंडित लज्जा शंकर झा को याद दिला दू बुल्ले साय कहते हैं बुलिया सोए असा थी वख नहीं बिना सोए थी दूजा कख नहीं पर देखने वाली अख नहीं ताही जान पई दुखड़े सहन दिए मुंह आई बात न रहन दिए पंडित लज्जा शंकर झा कहते हैं कि यहां आके मन को बड़ी पीड़ा पहुंची पहुंचेगी क्योंकि देखने वाली आंख नहीं इसलिए प्राणों को पीड़ा पहुंचती परमात्मा एक है किसी से अलग नहीं है हम उसके अंग है वो हमारा अंग है हम उसमें हैं वह हम में उसके सिवाय यहां कुछ भी नहीं पर देखने वाली आंख नहीं इसलिए प्राण दुख पा रहे मुंह आई बात रुकती नहीं कहनी ही पड़ेगी मचे भांबड़ मचे तूफान उठे आंधिया सूली लगनी हो सूली लगे लेकिन वह बात तो कहनी पड़ेगी हम परिवर से लोह कलम करते रहेंगे हम परिवर से लोह कलम करते रहेंगे जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे असबापे असबाबे गम इश्क वहम करते रहेंगे वीरानिये दौरा पे कर्म करते रहेंगे हाँ तलखिए अयाम अभी और बढ़ेगी हाँ अहले सितम मस्क सितम करते रहेंगे मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा दम है तो मुदावा अलम करते रहेंगे बाकी है लहू दिल में तो हर अस्क से पैदा रंगे लबो रुखसारे सनम करते रहेंगे एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे जो भीतर जागा है वह तो प्रकट होगा ही होगा हम परवर से लोह कलम करते रहेंगे हम तो गीत गाते रहेंगे हम तो गुनगुनाएंगे जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे और जो भीतर घटती है उसे अभिव्यक्ति देते रहेंगे अस्वावे गमे इश्क वहम करते रहेंगे ये जो हमारा प्रेम है इस प्रेम को प्रकट करने के लिए हम साधन जुटाते रहेंगे वीरानिय दौरा पे कर्म करते रहेंगे ये संसार की जो वीरानी इस पर जितनी कृपा हो सकेगी करेंगे हाँ तलखीय अयाम अभी और बढ़ेगी हमें मालूम कि अभी जीवन की कटुता और बढ़ेगी अभी अंधेरा और बढ़ेगा हाँ तलखीय अयाम अभी और बढ़ेगी हाँ अहले सितम मस्त सितम करते रहेंगे ये भी हमें मालूम कि अत्याचारी अत्याचार करेंगे दुष्ट दुष्टता करेंगे हाँ अहले सितम मस्क सितम करते रहेंगे मंजूर ये तलखी हमें ये कटुता स्वीकार है हमें ये पत्थर स्वीकार है ये पत्थर पुरस्कार है मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा हमें ये अत्याचार भी स्वीकार है दम है तो मुदावाए अलम करते रहेंगे जो हमसे बन सकेगा उतना इलाज करते रहेंगे मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा दम है तो मुदावा अलम करते रहेंगे बाकी है लहू दिल में तो हर अस से पैदा एक आंसू भी बचा रहेगा तो उससे भी हम जो किया जाना चाहिए वही करेंगे रंग लगो लबो रुख सारे सनम करते रहेंगे तो उस प्यारे के ओठों पर कपोलों पर उस एक बचे हुए आंसू से भी रंग भरते रहेंगे बाकी है लहू दिल में तो हर अस्त से पैदा रंगे लबो रुख सारे सनम करते रहेंगे एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक एक उपेक्षा का ढंग है ये संसार करे उपेक्षा एक तर्ज एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे और एक हमारा प्रेम का निवेदन वो हम करते रहेंगे एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे आज तक